जिसने कुफ्र किया है उसका कुफ्र उसी पर पड़ेगा और जिन लोगों ने नेक अमल किया है वो अपने लिए ही रास्ता बना रहे हैं